के ते गुणा त्रिगुणम इत्रिकुतम उन्होंने कहा त्रिगुणम हवे की सामान्य मचेतनम प्रसव धर्मी आया था ना उसलिए सबसे पहले त्रिगुण का मान लिया सुख दुख लिया था क्योंकि इसमें आधार आधे भाव नहीं बन सकता क्योंकि वह प्रकृति त्रिगुणात्मक ही है आधार आधे भाव नहीं है इसलिए त्रिगुण का अर्थ किया था सुख दुख मोहा इति त्रया गुणा यस्मिन ये विग्रह किया था इसीलिए उन्होंने कहा त्रिगुणम इत्युक्ते पद जो आपने ग्यारहवीं कारिका में त्रिगुण कहा तत्र के त्रया गुणा वो तीन गुण कौन है ये आशंका हुई उस आशंका पर लिखने जा रहे हैं तीन गुण कौन कौन है तो वही कहने जा रहे हैं त्रया किंचा तल लक्षणम किम और मतलब वो तीन गुण कौन है के चते किम स्वरूपम उनका क्या वो कौन है और उनका स्वरूप क्या लक्षण माने स्वरूप क्या है उन्हें एक दृष्टान देना विपति था सर्वार्थ निर्वाह का आत्मभृतया गुणा जैसे गुण का मतलब होता उपकारक एक गुण का अर्थ क्या होता उपकारक जैसे कोई राजा है उसके राजा की संपूर्ण क्रियाओं के निर्वाहक जो अमात्य माने मंत्री होता है मंत्री आदि है उनको कहा गुणाहा गुण माने दूसरे के लिए उपकारक जैसे यज्ञ के अंग अंग मानो जैसे हम लोग कहते हैं वेद के अंग है कय छह कौन कौन तो यो तो हाथ पैर की तरह है क्या वो अंग परंतु कल्पना की गई रूपक की मुखम व्याकरण स्मृतम वो है नहीं मुख वेद में कहा मुख है मैंने उसके छह अंग उपकारक है ऐसा नहीं कि एक शरीर है उसके एक हाथ है एक पैर है वेद का ऐसा कुछ नहीं है कल्पना की गई है क्या की गई है कल्पना कर माने या वेद के छह अंग उपकारक हैं जो उपकारक होता है उसको अंग कहते हैं जो उपकार होता है उसको अंगी कहते हैं इसलिए छह अंग हैं अंग माने उपकारक किसको पुकारा है वेद के अर्थ के विवेचन में इन छह अंगों की आवश्यकता है इसलिए वेद को कहा जाता है अंगी इनको कहा जाता है अंग उसी प्रकार किसी राजा के जो उसको अंग कहते हैं कथम भानम अन्नयो वा उन्हीं के लिए आगे कहने जा रहे हैं उनकी कैसे प्रतीत होगी अतः भोग अपवर्ग रूप साधका जो भोग और अपवर्ग का जो साधक हो मैं संसारिक भी दे भोग अपवर मुक्त का साधक हूं वो सब कौन हो जाएंगे अंग हो जाएंगे आत्मा के इसलिए सत्वादया गुणा परार्थात इनका नाम क्या है गुण है वही कहने जा रहा है अतः गुणा किंच तल लक्षण इत्याह प्रीत्य प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा ये कहा आय लघु प्रकाशकम इष्टम गुरुत्व गुरु वर्णकम हाँ आगे बताने जा सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि गुण के तीन हैं बड़ी लंबी चौड़ी टीका ने व्याकरण लिख दी इस विषय में कि लिखा है कि द्वंद्व कहाँ होता है सह विवक्षा जानते हो सह विवक्षा थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी पड़े आप इसलिए बता दे रहे हैं तो वह यहाँ बड़ा शास्त्रार्थ कर डाला इसने कि सह विवक्षा कैसे प्रीति जाएगा प्रकाश के साथ अप्रीति अप्र, का जाएगा प्रवृत्ति के साथ विषाद जाएगा नियम के साथ अथवा प्रीति का अन्वय सत्व के साथ अप्रीति का अन्वय रज के साथ अभिषाद का अन्वय तम के साथ तो यहाँ द्वंद्व प्रीतिश्य प्रीतिश्य विषादश्य फिर प्रीत्य प्रीति विषादा अते आत्मान ऐसांते प्रीत्य प्रीति आत्मका ये कहना है तो उसने कहा भैया यहाँ तो शास्त्रार्थ है क्योंकि साहित्य ही नहीं होगा कि ये गुण एक में तो मिलते नहीं है प्रीत्य प्रीत्य आत्मका एक कोई तो है नहीं है प्रीति का अन्वय कहाँ है सत्व में जाएगा अप्रीत्यात्मक रज है अतम है विषादात्मकम अलग अलग अन्वय होगा तो कैसे होगा तो लोग कहते हैं एक भाषाकार ने अजा अभी धनौ कस्य गदत्त दो उन्होंने कहा अजा विनव धनौ यज्ञ दत्त देवदत्त अथा अजस्य अभी इति अजावी धनम धने अजावी धने यो होतौ अजावी धनौ ऐसा कह दिया अब यहाँ अजा का अन्वय जाना यज्ञ दत्त दीर्घ यज्ञ दत्त में और अभी माने भेड़ अजा माने बकरी अजा माने अभी माने भेड़ जानते हो हाँ। तब ठीक है नहीं पूछ रहे हैं तो उन्होंने कष्ट अजा धनम भास्कर के कस्य अभी ही अवयव अवया अभी में अवया धनम मैंने किसका धन अजा है किसका धन अवय है ऐसा न ज्ञाते तो इन्होंने कहा फिर कहा नहीं ज्ञाते कथम मन देशा समान तो यहाँ समुदाय का समुदाय के साथ अन्य करना किसके साथ करना है जैसे आद्यंत टकित आदिश्य अंत और टस्य कस्यति टकऊ टकऊ इतो यौ टकितऊ ऐसा कहती है यो हो तो आदि का अन्वय का अटित में और अंत का कित में द्वंद्व नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी अन्य अन्य में सारा सही बक्षा नहीं है तो उन्होंने कहा समुदाय का पहले समुदाय में अन्वय करें फिर बाद में प्रत्येक में होगा जैसे किसी ने कहा धव खदीरो छिंदी तो बताओ धव खदेरी एक साथ काटेगा कि अलग अलग काटेगा छेदन क्रिया तो पहले एक एक वही काटेगा तो प्रति व्यक्ति पर उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रीत्य प्रीति विषादात्मक का सत्व रज गुण इनमें अन्वय होगा पहले समुदाय में और फिर प्रत्येक में अन्वय होगा इसे अजाविधनऊ यज्ञ दत्त देव दत्त कस्य अजया अजाधनम कस्य अवय अवय इति तो कथा सांक मनोदेशा इति सूत्रेण ज्ञायते तदवत यहाँ पर भी क्या करना द्वंद्व समझ लेना है इसे लिखा स्वाटिका में चलाया यहाँ जी ये देखो व्याकरण के बिना नहीं आता पढ़े इसलिए आनंद आ गया प्रीत हाँ, प्रीत भी अच्छा, अच्छा तो सभी है तो अच्छा वाला खरीद लो प्रीत्य प्रीत हाँ, विषाद आत्मका हाँ, कौन रोका तुमको प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था माने प्रीत्यात्मका सत्वम अप्रीत्यात्मकम रजा अविषादात्मकम तमह तो इन्होंने कहते हैं यहाँ आत्मा शब्द का बताएं क्यों लिखा है इनको इतना प्रीति प्रीति विषाद स्वरूपा कुछ कर दे आत्मा क्यों कह दिया तो बताएंगे कि मैंने प्रीति इन्होंने आत्मा शब्द के इसलिए कुछ लोग कहते हैं दुख क्या चीज है सुख का भाव दुख है और कुछ लोग कहते हैं दुख का भाव सुख है ये कह रहा ऐसा नहीं है भाव है सुख भी भाव पदार्थ है और दुख भी भाव पदार्थ है इस अभिप्राय से उन्होंने क्या लिखा आत्मा मान प्रीत्यात्मा ने प्रीत भाव है अब प्रीत्यात्मा ने दुख भाव है दुख सुख का अभाव नहीं है अभी तो ये क्या है भाव पदार्थ है अभाव स्वरूप नहीं है यह नैयाय कहते हैं ज्ञान का भाव अज्ञान है चीज का अभाव क्या है तम है कोई तम अतिरिक्त पदार्थ नहीं पड़े हो ना नया बुधनी में उसी तो प्रकार सुख क्या चीज है किसी के मत में नया में तो सुख भाव रूप है किसी ने कहा सुख किम स्वरूपम दुखा भाव सुखम सुखा भाव दुखम तो इन्होंने कहा ना सुखा भाव दुखम न दुखा भाव सुखम जिसे किसी ने क्या कहा असुर असुर मतलब क्या होता है सुर भिन्ना तो तुम भी हो गए असुर पशु भी असुर हो गया लकड़ी भी असुर हो गई नहीं हो गई मेरे को असुर कोई कहता है मैंने सुर विरोधी सुर का विरोधी विरोधार्थक नहीं लकड़ी को कह देंगे असुर भैया असुर है लकड़ी ले आना <laughs> हाँ वही विरोध अर्थ में ठीक है तो वही कहने जा रहे हैं इसलिए भाव आत्मक बताने के लिए इसमें कौन सा तो का प्रयोग किया आत्मा माने प्रीत्यात्मकम अप्रीत्यात्मकम विषादात्मकम न प्रीति ही दुखा भाव न प्रीत्य भाव दुखम प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था मनवा प्रकाश से प्रवृत्ति वही प्रकाश के काम सत्वम लघु प्रकाश कम निष्ठम और प्रवृत्ति जब रज बढ़ता तब प्रवृत्ति आती है जैसे आजकल प्रवृत्ति सब में तो रजोगुण बड़ा हुआ यही समझना चाहिए नियम माने संकोच नियंत्रित हो जाना सो जाना यही नियम का मतलब प्रतिबंधक यहाँ नियम करता है रुक जाना क्रिया ना कर पाना सोचना समाप्त हो जाना मतलब थम तम में क्या होता है ना कुछ प्रकाश है ना चलना ना देखना यही किसका स्वभाव है नियम मन प्रति रोकना नियम के यहाँ से प्रतिबंध करना नियम में क्या होता नियम बना दी जाए गंगा जी कह नहीं घूमना इतने से इतने समय तक प्रतिबंध हो जाएगा तो नियमार्थ माने रोक देना माने प्रवृत्ति को रोक देता है प्रकाश को रोकने वाला काम कौन करता है ये तमा ये तम जब तुम्हारा तम गुण बढ़ जाएगा तो सो जाओ पढ़ाई नहीं जाओ प्रवृत्ति रुक जाएगी तम तुम्हारा बढ़ जाएगा अच्छा अच्छा सोचना तुम भूल जाओगे ऐसा तुमको होता है कभी हाँ तो ये कमी कहना था इसीलिए तो कहा ये लक्षण है समझने के लिए ये तुमको अच्छा विचार आ रहा है थोड़े लोग प्रकाश है तुम्हारे जीवन में सत्य बढ़ा हुआ है और तुम सारा दिन घूम रहे हो चंचलता अधिक है और जहाँ ना कुछ कहता करने का भी मन नहीं हो रहा हमको सोच मन कुछ कुछ कर ही नहीं पा रहा है वो क्या है तम है तम का हुआ है आप इनका बता दिए एक तो बता दिए कि प्रीति अप्रीति विषाद इनका स्वरूप है और करते क्या है तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमा इनका ये फल हो गया और कैसे कब ये घटते बढ़ते उसके लिए बताया जा रहा आगे वाले में कि कौन दबता है तो कौन बढ़ता है एक दूसरे माने क्रिया पक्ष बताने क्या अन्योन्य अभिभाव अभिभाव माने ढक देना इसे कहा था ना सूर्य ने किसका अभिभाव कर दिया दिन में रहते हुए चारा नहीं दिख रही अभिभावत अभिभावत और चा अच्छा, समाना जल वाला बताया था बिंदु वाला अभिभावा दे दिया तो सूर्य और तारे तारा दिन में है तारामंडल और सूर्य के प्रकाश ने इतना लंबा प्रकाश है कि वो तारा वाला प्रकाश डक गया इसे यहाँ पर बड़ा भारी बल्ब रख दिया जाए और छोटा से बगल में बजल आगे है उसको बता तुम बता सकते इसका प्रकाश कितना है नहीं बता अभिभाव हो गया वही कहना चाह रहा है कि इनका अभिभाव एक दूसरे का जब अभिभाव हो जाएगा किसी के आश्रय हो जाएगा जनन मिथुन वृत्तयस्या गुणा उनका सबकी लंबी परिभाषा करने वाले हैं गुणा इति परार्था गुण शब्द का अर्थ क्या परस्मयी इमे इति परार्था परस्मयी इमे इति परार्था मान दूसरे के लिए उपकार का भोग अपवर्ग साधक इत्यर्थ कस्य पुरुषस्य ये पुरुष के भोग और अपवर्ग के साधक हैं कौन कौन तीन गुण ठीक वही कहने जा गुणा इति परार्था सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यत्र चा सत्वादया क्रमेण निर्दीक्षते मने विवेच्यंते विवेक्षन्ते आगे विवेचन करेंगे विवेचिष्यन्ते आएगा करेंगे विवेचन करेंगे किस तारिका में सत्यम लघु प्रकाशकम इष्टम मैंने बारहवीं कारिका के बाद तेरहवीं में आने वाला इसके बाद इसलिए यहाँ लिख देने तद अनागता वीक्षणी न तंत्र युक्त्या क्या लिखने जा रहे हैं आगत और अनागत हाँ बोलो गुरु गीता में भगवान ने सत्य के बारे में कहा कि सत्यम सुखे संजय हाँ मतलब अप्रीति माने का अले आगे पढ़ा नहीं है सत्यम प्रकाश कर्म हाँ, मुझे अरे तो, तो, तो वो तो ठीक है लिखा है इसका फल तो दे दिया उन्होंने वहाँ लिखा भी सत्यम प्रकाश कर्म गीता में भी तो आया चौदहवें अध्याय में हाँ, तो एक लक्षण तुम देख हाँ, रहे हो वहीं का दे भी है सत्यम सुखी थी और वहीं पर सत्यम प्रकाश कर्म हाँ दोनों दिया लक्षण भगवान तुम्हारे तरह नहीं संदेह करते हैं वहाँ गीता सब दिया ये वही क्रमेण तदा अनागता आब अनागत माने भविष्य होता है मन के द्वारा अनागत को हम विषय बना लेते हैं बना लेते नहीं बना जैसे तुमको कब जाना है परसों सो अभी तो तुम्हारा पूरा आवीक्षण कर दिया कि नहीं कर लिया कैसे कैसे जाना है वही इसलिए बोलते हैं अनागत आवीक्षण दर्शन माने भविष्य वाली वस्तुओं को मन में विषय करके आगे जो कार्यक्रम सतुलग प्रकाश कम लिखने वाले थे उसी को मन में करके यहाँ लिख दिया गया वो एक इसको बोलते अनागत आवेक्षण मैंने समाकृष्य अनुसंधानम भक्ति मैंने आगे वाले को पीछे खींच करके उसका ज्ञान कर लेना इसका नाम हुआ अनागत आवेक्षण एक तंत्र माने होता है शास्त्र तंत्र माने शास्त्र माने तंत्र युक्त्या माने शास्त्र युक्त्या वा माने शास्त्रकारों के ऐसी पद्धति बताने की इति युक्त्या नाम यथा संख्यम वेदितव्यम अनागत लक्षण आगे वास्तव लक्षण कहना है इसलिए उनको यथासंग लगा दो अथवा तंत्र मान शास्त्रकारों की युक्ति मान लो जैसे यथासंग मनोदेशा समान लगाए काम कर दो इनका प्रीति किसमें अन्य होगा सत्व में सत्व के साथ एक दुक्तम भवती अब घटा लक्षण बता रहा स्वयं अनेन कारिकया किमुक्तम भवती वही लिखा यथा सांग मन देशे लगाना है पहला भवती प्रीति ही सुखम प्रीति माने क्या होता है सुख और प्रीत्यात्मक सत्वगुण सत्वगुण का लक्षण क्या है प्रीति करना सबसे प्रेम करना आजकल लोगों को तो सत्वगुण ज्यादा है सबसे प्रेम करते हैं प्रीत्यात्मक सत्वगुण अप्रीति ही दुखम उसमें लिखा अग्रे सुखकरम अपरिणामी विषयोपम तत्सुखम राजस स्मृतम अब इनको बताते चलिए नहीं ये कहेंगे गीता में से नहीं आया अप्रीति ही दुखम अप्रीति का है दुखम और क्या है अप्रीत्यात्मका रजो गुणा रजस शब्द तो रजो गुणा विषाद मोह विषाद कहते मोह अर्जुन का नाम है अर्जुन के गीता में भगवान ने उनके लक्षण को देखकर उन्होंने जितने प्रश्न की प्रथम अध्याय में जो दुख किया उसका नाम क्या रख दिया गया विषाद योग मोह हो गया मोह वैचित्य वैचित्रता जाती क्या करें क्या न करें मोह में ये स्थिति हो जाती है क्या होती है क्या कहें क्या क्या ना करें विषम स्थिति हाँ इसलिए विषाद हो गया मोह में पड़ गया आए भाई बंधु है मोह में पड़ गया हाँ वो तो आगे है चलिए दुखम अप्रतीत्यात्मका रजोगुण विषादा मोहा विषादात्मक तमो गुण विषादात्मक कौन है हमारा तमो गुण है अतः इसलिए उन्होंने कह दिया अब आगे लेकिन ए तुमन्यंते जो लोग क्या कहते थे प्रीति दुखा भावात न अतिरिच्यते जो लोग कह रहे थे प्रीति और दुख के अभाव से अतिरिक्त नहीं है एवं दुखमपि न भावात अन्यत अतिरिक्त ऊपर जोड़ दिए दूसरा है तान प्रति उनके मत को खंडन करने के प्रति आत्म ग्रहणम कुत्र आर्या छंदसी कारिकायाम आर्या छंद इस आर्या छंद में ग्रहण किया है आत्मा मन प्रीत्य प्रीति विषादात्मक का न च यदि और भी दोष देना और भावात्मक मान लेने पर है दोष नहीं है कैसे हो जाएगी आत्मा से के तो कई अर्थ किए हैं आत्मा माने क्या होता है तो लेखे आत्मा ने स्वरूप होता है आत्मा माने जो हम लोगों का आत्मा है वो तो आत्मा शब्द का यहाँ जो विवेचन दिया माने आत्मा ने स्वरूप परक माने प्रीत्यात्मक माने प्रीति स्वरूप क्या बोलते हैं प्रीति स्वरूप किम बोलते हैं प्रीति स्वरूप वही कहने जा रहा है आत्मा प्रीति मन आले का आत्म शब्दा स्वभाव वाची आत्म शब्द का अर्थ क्या है स्वभाव आत्मा कहीं कोश लेकर देहे धृत जीवी स्वभावी परमात्मन इति विश्व कोश है उसमें का आत्मा तुम बताओ अमर, अमर कोश को याद है आत्मा का क्या क्या लक्षण है अरे बताओ तो अपने को कहता हूँ पूरा हमको अमर कोश याद है पंडित अमर कोश के बोलो पूरा याद है वहां लो आत्मा देह का मीन देहोम हैं देह के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है धृति के लिए जीव के लिए स्वभाव के लिए अब परमात्मा किस लिए प्रयोग स्वभाव के लिए सुख का तत्व का स्वभाव क्या है प्रीति ठीक विश्व कोश दिया निजी टीका में अब न चाह इसमें यदि हम ये कहते दुख का भाव सुख सुख का भाव दुख तो दुख का भाव जब ज्ञान हो तो सुख का ज्ञान हो जब सुख का ज्ञान हो सुखा भाव का ज्ञान हो तो दुख का ज्ञान हो तो कौन दोष हुआ दुख ज्ञानाधीन सुख ज्ञान वही इसलिए अन्योन्य आता है अब जब अलग अलग मान लिए तो कोई दिखे वही न इतरा इतरा भाव इतरी तरह भाव ने अन्योन्याश्रया न भवंती मैंने वही इतरे तरह भावा न दुखा गयो अपितु भावा ये एक दूसरे का भाव नहीं है अपितु ये भाव है आत्म शब्द से भाव वचनत्वात आत्म शब्द भाव का वाचक है प्रीति आत्मा भाव ए शांति प्रीत्यात्मा एवं अन्य मन उसी प्रकार अप्रीति आत्मा भावा ए शांति अप्रीत्यात्मा विषाद आत्मा भावो ये शांति विषादात्मका ये अन्य में जोड़ लेना भाव रूपता चैसाम अनुभव सिद्धा भाव रूप है अनुभव सिद्ध है क्योंकि जब सुख आता है तो आपको बताते आता है जब सुख आएगा तुमको बता जैसे तुम्हारा मोबाइल गया दुख आया तो तुमको बताते ही आया कि चुपचाप आया दुख मैं जब भी आएगा तो ये दुख बता इसको बोलते हैं ज्ञात सत्य का पदार्थ जब भी आएंगे तो ज्ञान कराते ही आदमी के पास आते हैं क्या आता है कराते ही इनका स्वभाव है सुख दुख का ये स्वभाव है और धर्म कितना तुम्हारे हैं पता नहीं तुमको अधर्म कितना है कोई पता है तब ये नहीं है और सुख दुख क्या होता है बताते ही अपने को आते हैं एकदम चिल्लाते हुए यदि कितना भी आदमी अभी इसको तो एक लाख मिल गया हो तो कितना भी छुपाए परंतु इसका मुंह चेहरा बताएगा कि हाँ और यदि कोई चला गया मोबाइल तो चेहरा बताएगा रे राम कोड़ी आपत्ति है नहीं होगा मन में लोग समझ जाते इसी बोलते हैं बता क्या सत्य पदार्थ इनको बोलते हैं भाव रूपता चाहे शाम अनुभव सिद्ध ये भाव रूप है हर एक व्यक्ति इनको अनुभव सिद्ध अनुभव में आता है परस्पराभावात्मक यदि परस्पर भाव दुख का अभाव सुख सुख का भाव दुख है तदा तो आश्रयता पत्ति मैंने आश्रय आपत्ति हो जाती एक असिद्धि एक की असिद्धि होने पर उभय की असिद्धि हो जाएगी यदि हल नहीं सिद्ध होगा तो न हलंतम बन पाएगा न आदिरंतम सहायता भी नहीं बन पाएगा ये दोनों बन जाएंगे इत का ज्ञान नहीं होगा तो दोनों नहीं बनेंगे इसलिए एक की सिद्धि होने पर दोनों ही क्या जाएंगे असिद्ध हो जाएंगे अतः स्वरूपम ऐसा उक्त स्वरूप है सुख का सत्व का स्वरूप सुख और रज का स्वरूप दुख और तम का स्वरूप विषाद बता दिया अब उनका प्रयोजन दे रहे हैं सुख से क्या लाभ है तो बताया प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अर्थ के चार रही वस्तु प्रयोजन निवृत्ति सुख रही वस्तु निवृत्ति मसकार्था धूमा मसक निवृत्त धूमा और भोजनार्थम जलम तो भोजन प्रयोजन कहा यहाँ किस अर्थ में अर्थ शब्द प्रयोजनवाची वाची है प्रयोजनम मन की प्रयोजन क्या है मन प्रकाशार्थ सत्वम प्रवृत्त्यर्थम रजा अनियमार्थम तमाह नियम प्रयोजन एक वही प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अत्रापि यथा सांख्य मनोदेशा समानाम यहाँ भी लगा देना है ठीक तो वही कहने जा रहे हैं यथा सांक मन यहाँ पर मन प्रकाशा बुद्धि बुद्धिवृत्त्यादि रूपा आलोक प्रवृत्ति क्या है चलन करना नियम क्या है प्रकाश क्रियाभ्याम शून्यत्म नियम का अर्थ किया प्रकाश प्रक्रिया दोनों से शून्य मन प्रतिबंध उन दोनों को रोक देना यही इसका काम है रज प्रवर्तकत्वाद रज क्या है प्रवर्तक है और सर्वत्र लघु सत्वम प्रवर्तित लघु माने अत्यंत हल्कापन किसमें रहता लघु माने अत्यंत हल्कापन वो किसमें रहता है सत्व में इसलिए कह दिया वही कर लघु सत्वम प्रवर्तित यदि तमसा गुरुणान नियमित रजा प्रवर्तक है लघु सत्व को प्रवृत्ति कराता है कब कराता है यदि तमसा गुरुणा तम बड़ा भारी है गुरु माने भारी गुरु गुरु जी मत बना लीजिएगा तम को मर जाएगा मामला इसलिए तमसा गुरुणा गुरु शब्द यहाँ क्या परिमाण का बात है माने भारीपन उसमें भारीपन क्या यदि नियामक भारीपन नहीं है तब तो काम करेगा सब तो यदि भारीपन है तमागुण अधिक है तो गड़बड़ जाएगा तमो नियतम तू कुछ देव प्रवर्तयती और तमो नियत हो कहीं कहीं प्रवृत्ति हो सर्वत्र प्रवृत्ति उसकी नहीं होती है तम में भी प्रवृत्ति होती है परंतु क्वचित का भी हो गई तो हो गई वही कह रहे थे क्वचिदेव प्रवर्तयती भवती तमो नियमार्थम इसलिए तम का स्वभाव क्या हो गया नियमार्थ मैंने प्रतिबंधकार्थम तम का स्वभाव है कि वह प्रतिबंध कर देता है रज को कहीं कहीं घुसने देता सब जगह रोक ही देता दे ये प्रयोजन कहकर क्या बताने जा रहा है क्रियाम आहा क्या है क्रिया का मनसा प्रत्येकम अभिसंबद्धते माने अन्योन्य पदस्यापी माने मन रजा अन्योन्यम अभिभावात एक दूसरे ढक जाने अन्योन्य आश्रय अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन वृत्तया धुंदबादु धुंदमध्य धुंदवान्ते चूयमाणम पदम वही आगे माने वृत्ति माने का अर्थ क्या निकाला यहाँ जो माने अन्योन्य अभिभाव आश्रय जनन मिथुन वृत्तया तो वृत्ति शब्द का अर्थ का क्रिया वृत्ति क्रिया माने यहाँ पर जो लिख रहे हैं वृत्ति से क्या अर्थ किया क्रिया क्या उनकी साचा प्रत्येकम अभिसंबध्यते तो इसमें तीन चीज अन्योन्या क्रिया कोई एक क्या लिखा अन्योन्या अभिभव वृत्त कोई अन्योन्य अभिभव वृत्तया अन्योन्य आश्रय वृत्तया अन्योन्य जनन वृत्तया अन्योन्य मिथुन वृत्तया मैंने अन्योन्य का भी क्या करना है वही वही कहना चाह रहा है मैंने अन्य गुणांतरम तिरस्कृत मैंने दूसरे को वो रोकेगा दूसरे को वो रोकेगा ऐसे सबका करना है वही आगे लेकर सब का स्पष्ट कर तथा अच्छा लिखने जा रहा ना ईशाम अन्यतमीन बसाद न अन्यद अभिभूयते माने जब अर्थ कोई प्रयोजन आ जाएगा फल वसाद अन्यतम मैंने तीन में से कोई एक का उद्भव जब होगा किसको उद्भव को मैंने सत्य का उद्भव होगा तो रज और तम को दबा दे अभिभव करेगा उसका ये उद्भव होगा तो ये सब क्या हो जाएंगे दब जाएंगे वही कहे इतिया उद्भूति न अन्य अभिभूयते अन्य गुण कौन है सत्व रज और तम अभिजूत हो जाएगा और तम बढ़ेगा तो सत्व रज तम अभिजूत हो तथा ही अब उसका साफ कर रहा है रथत्वम रजस्तमसी माने रजाकर्ता बना दीजिए और सत्व तम उसी को यहाँ कर बनाइए रज क्या करता सत्व और तम को ढक करके घोरा मूड प्रवृत्ति आती है ना जब तो घोर किसका है रज का है तो मूड प्रवृत्ति किसकी है तम की मुझे घोरा आगे कारिका है उसमें लक्षण देंगे घोर मूड चार प्रवृत्ति वाला अभी नहीं आ, आएगा या लगभग बहुत आगे आने वाला इसीलिए कहने जा रहे हैं तो बस केवल उसके लक्षण दे रहे हैं घोरा और तमह किन करोती रजत तत्व रजती अभिभूय मूढ़ा और तम क्या करता है रज सत्व और रज को ढककर मूड प्रवृत्ति करता और शांत किसका है शांत घोर मूड तीन प्रवृत्ति तो सत्व का सत्व क्या कहे रज और तम को अभिभू किम शांता लिख रहे ये हो गया कौन सा अभिभाव लक्षण उसी प्रकार अन्योन्य आश्रय वृत्तया उस अन्योन्य आश्रय का अर्थ कहने जा रहे हैं ये कोई ना कोई आश्रय मैंने आधार आधे भाव नहीं है कोई इतना दिक्कत आ गई क्योंकि अन्योन्य अन्योन्य आश्रय वित्त के लगता कि एक दूसरे के आश्रित होना देखा ये अर्थ नहीं है वही लिखने जा रहा है क्या लिखने जा रहा है हाँ न घटते तो इसे कुंड है ना और बेर बेर कहाँ रखे जाते हैं हाँ, तो इसलिए कुंड क्या हुआ आधार हुआ अबेर हो गए आधे इसलिए जैसे यह मन पर्यंक और पुस्तक आधार आधे भाव है तदवद अत्र न घटते आधार आश्रयार्थ मुख्या आश्रयार्थ यानी घटता आता यहाँ आधार आधारादेवन सहकारी आधार आधारादेवा का अर्थ क्या है मैंने गौण अर्थ में प्रयोग है मुख्य अर्थ ना घटे तो क्या कह जाए गौण सह एक दूसरे के सहकारी है एक दूसरे की क्या है सहकारी अर्थ में यहाँ क्या शब्द का प्रयोग किया है आश्रय जन वही लिख रहे हैं इति अन्योन्याश्रय वृत्तया इत्यत्र यद्यपि आधाराधे भावेन न आश्रयार्थो घटते आश्रय किं तथापि तदपेक्षया यस्य क्रिया मान जिसकी निमित्तीकृत जिसकी क्रिया होती है वह उसके आश्रित तो होता है इतना माने सहायता से सहायक अर्थ में मान जिसके आश्रय तम किसके आश्रित होकर चलेगा रज के तो रज निमित्तिका हो गई मैंने रज आश्रित हो गई इन्हें कहा आप हमारे आश्रित हैं तो यहाँ अशुद्ध का अर्थ क्या है सहायक हैं आप हमारे क्योंकि आप कार्य नहीं कर सकते इसलिए यहाँ किस अर्थ में आश्रित शब्द है सहायक में मैंने कोई किसी के आश्रित तो यानी सहायक है न कि उस आधार एक दूसरे ऊपर बैठा है उसी प्रकार यहाँ कहने जा रहा है न यद्यपि आधाराधे भावे नाश्रयो अत्र घटते सूत्र इन पर नहीं घट रहा है अतः यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ है सत्य गुणों ही रजतम कार्य भूत प्रवृत्ति नियम आश्रित यहाँ उसको जो सत्य गुण है रज के कार्यभूत का प्रवृत्ति और नियम इनको सहकारी बना करके कार्य प्रकाश न अपने जो कार्य प्रकाश है उसके द्वारा रज और तम को क्या करता उपकार करता रज और तम का उपकार कौन करता अपने प्रकाश के द्वारा यही हो गया तो ये रज तम क्या होगा उसके आश्रित हो गए इतना ही अनंत है वही कहने जा रहा है अर्थ तथापि यदपेक्षा यश मन यदपेक्षा मन रज तम के पीछे यश क्रिया कस क्रिया तत्व क्रिया अतः रज और तम क्या हो जाएगा सत्व के आश्रित है वही कहना जिसकी अपेक्षा जिसकी क्रिया होती है वह उसके आश्रित माना जाए तस्य आश्रय तथा दृष्टान घटा रहा है सत्व प्रवृत्ति नियम आश्रित मन सत्व क्या करता है प्रवृत्ति माने रज का क्रिया धर्म माने लक्षण और तम का लक्षण नियम इन दोनों को लेकर के रज और तम को प्रकाश करता है मन रज तम को प्रकाश के द्वारा उपकार करता है रज क्या करता है प्रकाश और नियम को लेकर के प्रवृत्ति मैंने प्रवृत्ति शीतर कौन हो गया विषाद और नियम प्रकाश प्रवृत्ति तो प्रकाश और प्रकाश और नियम इनको करता है तमा क्या करता प्रकाश प्रवृत्ति आश्रित नियमित नियमितर कौन कौन हो गया आप इतार मैंने प्रकाश और प्रवृत्ति उपकरोती मैंने प्रकाश और प्रवृत्ति को उपकार करता है किसके माध्यम न नियमे न प्रकाश प्रवृत्तियों हो किन करोती माने उनका उपकार करता है ये लक्षण है तीसरा क्या आया अब हो गया अन्योन्या विभव अन्योन्याश्रय अब आया अन्योन्य जनन वृत्त जनन का अर्थ है परिणाम जनन मान इनके यहाँ क्या है परिणाम वही कर अन्योन जनन अर्थात अन्यतमो अन्यतम अपेक्ष जनयती मन रज किसी को पैदा करेगा तो तम और सत्य को लेगा साथ में जननश्च परिणाम सच गुणानाम रूपा परिणाम सत्व का परिणाम सत्व के रूप में होगा रज का परिणाम रज के रूप में होगा और तम का परिणाम तम का रूप मने गुणानाम जो साम्यावस्था व प्रधान आख्य सा परिणाम उन्होंने कहा वही परिणाम श्रित मन समान रूप लिख रहा है श्रित कार्य क्या लिख रहे हैं समान मन गुणानाम साम्यावस्थ रूपा प्रधान आख्या सा परिणाम अतः प्रतिसर्गावस्थायाम सत्तम रस्तम सदिश परिणमती तात्पर्य जब हमारा सर्ग होता है तो इस क्या समान रूप से क्या होते हैं परिणाम तो होते हैं वही लेकिन अतएव न ही तुम प्रकृति की आदि अवस्था कही गई वही साम्य अवस्था बस उसके बाद अवस्था नहीं कही जाएगी बस साम्य अवस्था के तरह तो कुछ नहीं है तीनों का मिल जाना जब सत्व बड़ा हो तब अवस्था नहीं कही तब नहीं सामते तब कैसे कहेगा सृष्टि आरंभ में ही साम्य हाँ अर्थात इनमें हाँ, गढ़ता बढ़ता रहे हाँ, वो साम्य अवस्था इसीलिए कहा जब आप जब प्रतिसर की जो अवस्था होती है उस समय सत्य रजतम की क्या होता है ये समान परिणमित प्राप्त होते हैं इसलिए इनका नाम कहा है परिणमंती जनन करते हैं समान रूप से सज गुणा नाम सदस्य रूप मैंने साम्यावस्था अतएव न हेतु मतम इनमें कोई दूसरा हेतु नहीं है न तत्वांतर से ही तो क्योंकि अब प्रधान से तो कोई है ही नहीं है यदि होता तो हेतु मत होता जैसे व्यक्त में हेतु मत है परंतु प्रकृति हेतु मत क्यों नहीं है अरे हेतु मत क्योंकि वह अकार्य है किसी का कार्य नहीं है वही पीछे कहा था ना अतः हाँ कारण कार्य नहीं है तत्वांतर से हेतुराभावात नापी अनित्यत्व तत्वांतरे लया अनित्य कौन वस्तु होती है जो लय होता है यदि उत्पन्न होती तो हेतु मत होती लय होती तो क्या हो जाता अनित्य होती ये लय भी इसका नहीं होता प्रकृति का और उत्पत्ति भी नहीं होती तो हेतु का है नित्य क्यों है तत्वांतरे लया भावात किसी तत्वांतर में उसका लय नहीं होता अन्योन्या मिथुन वृत्तया मिथुन माने साथ साथ साहचारी मिथुन तो का अर्थ क्या है साचारी वही लेकर अन्योन्या मिथुन वृत्तया अजात अन्योन्य सहचरा अभी अविनाभावर्तिना कितना सुंदर अविनाभाव एक बिना एक नहीं रह सकता सत्वज रजतम तो वहां रहेगा ही ढका हुआ हो या रजतम है तो सत्व रहेगा इसी का नाम है अभिना बिना माने रहित अभिना माने रहित से रहित माने आवास्य यही अभिना भाव संबंध का अर्थ अभिना बिना माने ना अभिना माने ना नहीं अपितु ना आ रहेगा ही ये अभिना भाव वर्तना इति चा शब्द का है समुच्चय अर्थ में सबका समुच्चय करना है माने अन्योन्य अभिभावादी नाम धर्माणाम गुणे समुच्चय आजा सबका समुच्चय का अन्योन्य अभिभावाच तीनों का कह देना है मिथुनम परस्परम इधर रखा जाए